down. के क्यों रो पड़ी बोलती तेरे हाल देख तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रहे गाल देख और काले हो रहे होट देख क्यों तू ऐसा हो रहा देख टैटू सरे हाथ पे नहीं चलते अपने जात में रिश्तेदारों की बात में फिर मेरे लोगों साथ में आने वाला ऊपर मेरे साथ में मेरे अमल मेरे साथ में मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता फिर पन मैं करता अमीर लोग के बाथरूम की तरह उतना मेरा घर था वो छोटा सा घर था मैं रिक्शा में सोता हटाई की बात नहीं मैं खुद को देख के रोता मैंने बोल डाला जोता मैं फील कर सकता गरीब नहीं ले सकता टिकट टिकट मेरे शो का इसलिए टिकट फेंकू शो का रोज रखू रोजा एक साल तक सोचा खुद को भरोसा भरोसा हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा ब्रेवो माहिर ब्रेवो ब्रेव माँ पूछ मत क्या सिंजस है आवे सबर कर कबर भर अभी तो स्टार्टिंग पूछ मत क्या सिंजस है आवे कैसे करूँ जामिन कैसे करूँ सुबह उठ के सुनने मिल रहा एम्बुलेंस का सारन किसका तो बन बाप गज का किसकी तो भी माँ बहन इस कॉल पे माँ बहन छुपाते माँ बहन और दूसरे की माँ बहन तूने सुबह उठ के सन देखा मैंने सुबह उठ के गन देखा बन देखा मन देखा अठारह में जेल देखा स्कूल टाइम में फेम देखा सबको सेम देखा यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा लड़की लोग का सेल देखा खोजा मत मैंने चिल में लिखा पब्लिक बोली चल के दिखा फोटो ले आज फिर चार साल बाद सबको दिखा सबको दिखा लेकिन भागते तुम सच से मेरे को पसंद सच मैं बोलता हक से देख रेला में कब से दुआ मांग रब से गुस्सा तू तो बच्चे जैसे आमे आज के बाद से फैन मेरा रहेगा तो आज के बाद से माँ बाप को मानते अब उन आज के बाद से भूल कैसा सकता तू माँ के हाथ से आज के बाद से बात मत कर आज के बाद से डबल डेट मत कर तू आज के बाद से कर्मा गोना फक यू आज के बाद से खुद का ख्याल रख तू आज के बाद से पिल नहीं खाने वाला आज के बाद से जेनेक्स मेरे पास में नमू में कैसे बात करूंगी तुम जिंदा लाश से मार डालू तो तेरे मुंह पे खास के ब्रा एक प्लास्टिक बात एक आमेन आमेन हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा bravo for my head pray for my homie पूछ मत क्या सिंजर से आवे सबर कर कवर वर अभी तो स्टार्टिंग पूछ मत क्या सिंजर से आवे trust. Money in my main purse, why you so lame? Cause who came first? Remember us. पैसा आया दिसंबर सो सिंपल भी हम्बल 2020 चालू भी हम्बल फक मंबल याद आता स्नूप uncle big that shit I am gonna spit that shit खुद से मैं परेशान परेशान भाग के जाओ किधर इधर सिगरेट जलाए मैंने इधर पब्लिक जल जलरीली उधर बुरका फुल टाइट जिसमें दिख रहा तेरा फिगर कुरान में जिक्र सब बुक जरा डिप पड़ एसिड बिसिड खा जरा दुनिया पे ट्रिप कर इंसान की ट्रिप कर बीटी से सीख कर आयला में लिख कर बैठेला शांति से शांति से गाने मेरे बात कर रहे इंसान है खुद जाते तुम लोग क्या बात कर रहे मजबूरी में चोर बन रहे किसके कई को पैर पड़ रहे बात मेरी होती सच इसलिए मेरी केयर कर रहे पुलिस के पेड़ बढ़ रहे बोले हम लोग चेंज कर रहे पर अपन इनको क्यों नहीं चेंज कर रहे सेम कपड़े सेम लफड़े हुड को अच्छा नहीं लग रहा हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे डर करे कि मेरे को लड़की जैसा क्यों झड़ रहे अच्छा करने गए तो किसका अच्छे से मीन्स बन रहे ना पकी में घुसल कर रहे शैतान नमाज पढ़ रहे फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर इंसान ये क्या कर रहे अपनी हद पार कर रहे थर्डी पर हो गए फेरी डरता मैं मरने से सोच डाला क्या होगा मरने पे हाँ, हर मेरे सेंटेंस के मैं बोला मेरा प्रे बाबा है प्रे बाबा होमी पूछ मत क्या सिंजर से आवे हाँ, सबर कर का बर बरबर अभी तो स्टार्टिंग पूछ मत क्या सिंजर से आवे हाँ, yeah गाने में रहेंगे आई प्रॉमिस यू टेंशन मत ले जाना वी वाना बी ऑलराइट ये बात सबको पता है तेलगुरी से पढ़ के सबको what I am not looking for crowd I am not looking for cloud रुक मत रख किस पे if you have any doubt खुद पे मांगता प्राउड फक योर सिंपथी अकेला मैं बस भरोसा किस पे नहीं मांगते मेरे को दस एक हो मैं बस I mean my crush show me you know me show me some love दिखाएंगे कब सिर्फ चल रहे ललक you don't give a fuck तेरा प्यार तेरे पास रख I am running to how lockdown में करूं मैं शो पांचों कल में पढ़ के soft course no force but मेरे को हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता किसको जो मानता है व्हाट अबाउट जानता देखो फैंस के मैं कर करता लेकिन मैं खुद ऊपर वाले का पंगा डूनिया फेवर मेरी मदद पे लील बन बजा